जागु जागुआ जागु जागुआ पुरान दाग धोरे जाग जाग आत्मा पुरान दाग धोरे कर्म दूर करूँ कीच काम खोरे जाग जाग आत्मा पुराण जाग धोरे कर्म दूर करो कीच काम खोरे अपनी सुधि भूल गई और की क्या टोरे अपनी सुधी भूल गई और की क्या टूरे सत्य बात झूठ करे झूठ ही को गोरे सत्य बात झूठ करे झूठ ही को गोरे यह बात जानी जानी द्वार दार रो रे यह बात जानी जानी द्वार द्वार रो रे उत्तम पानी साबुन का प्रेम पानी धो रे उत्तम पानी साबुन का प्रेम पानी धो रे जागु जागु आत्मा पुराण दाग धो रे લાગા દાગ ધાય ડારો વાહ વાહ હો રે લાગા દાગ ધાય ડારો વાહ વાહ હો રે દુલન બેકૂફ કામ ગાફિલ હોય ન સોરે દુલન બેકૂફ કામ ગાફિલ હોય ન સોરે जागु जागु आत्मा पुराण दाग धो अच्छी बात कहा इन्होंने विवेकानंद ने भी कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत उठो जागो और जो अति श्रेष्ठ है उसे पाने की कोशिश करो वही बात का है ये भी रखे हैं बात कि जाग जाग आत्मा पुराण दाग धोर सभी आत्मा ही है लेकिन दाग पड़ जाने से जीवात्मा हो गया सो जाने से जीवात्मा हो गया और पिछले जन्मों के तमाम संस्कार तथा तीनों शरीर सुन सुन सुनो कारण के अधीन हो जाने से उसे अपना घर की याद ही भूल गई उस परमात्मा या सदगुरु से सो गया इसलिए संतजन का काम ही है सोए हुए को जगाना एक जागे हुए का कर्तव्य बनता है यदि कोई सोया है और उससे सोने के कारण अति श्रेष्ठ काम छूट रहा है तो उसे जगाना चाहिए संतजन यही तो करते हैं क्योंकि यह समस्त जीवात्माएं काम क्रोध लोभ मो मद मत्सर के अधीन होकर सोई हुई है ईश्वर की तरफ से आत्मा व परमात्मा की तरफ से इसलिए संतों का कहना है सूरजदास जी कहे हैं कि जाग जागो आत्मा पुराण दाग भोरे ये जो है आत्माएं है मेरी आत्माएं जग जाओ और जो पुराना दाग लगा है उसे धो डालो कैसे धोने कर्म दूर करो कीच काम खोड़ और जितना भी ये कर्म है संस्कार बने हैं उसे दूर करो कीच काम खोड़े और जो इस पर काम रूपी कीचड़ है उसको भी खो दो अर्थात दूर कर दो अपनी सिद्ध भूल गई और की क्या टोर संसार की ये आदत है कि दूसरे में दोष देखना और अपने के दोष न देखना जो अपना दोष देखता है जो अपनी कमी देखता है वो फिर धीरे धीरे कमी निकाल कर शुद्ध हो जाता है इसलिए अपनी सुध भूल गई जीवात्मा अपनी सुध भूल गई अपने घर का याद भूल गई अपने मूल स्वरूप को भूल गई है इसी कीचड़ के कारण इसी काम क्रोध लोमो मद मच्छर के कारण वह अपने घर को भूल गई है और दूसरे में कमी भूल और की क्या टोरे और दूसरे का टो करता है ढूंढता है कौन सी कमी अपनी कमी जो ईश्वर से विमुख हो गया है इसको नहीं ढूंढता सत्य बात झूठ करे झूठ की ही को गोड़े और जो सत्य बात है उसे झूठ मानता है और जो असत्य है उसे सही मानता है जो झूठ है उसे सही मानता है उसी को अख्तियार करता है मीन्स हमारा निस्वरूप आत्मा व परमात्मा ही सत्य है और ये जो दृश्य जगत है जो इन आँखों से दिखता है उसके पीछे काम क्रोध लो मोह मन मत्सर के कारण उसके पीछे परेशान है और उसी को सत्य मानता है उसी को सत्य मानता है और जो सत्य है उसे झूठ मानता है यदि किसी से कहा जाए ईश्वर के बारे में दोगरी तो झूठ मानते नहीं मानता बहुत सारे लोग हैं और संसार के पैसा का बात कर जाएगा एकदम जरूरी काम खाना जरूरी पैसा है ये नहीं माना जाता कि जरूरी नहीं लेकिन वही जरूरी नहीं है कुछ और भी जरूरी है यदि जरूरी वही होता तो बुद्ध घर द्वार और उतना राजपाट छोड़कर नहीं जाते यदि वही जरूरी होता तो बुल्ले शाह राजपाट त्याग कर क्यों नहीं बनते हाई जरूरी होता तो पीपा राजपाट छोड़ करके भक्त नहीं बनते इसलिए पैसा जरूरी है लेकिन वही जरूरी नहीं है उसके अलावा भी कुछ है इसी बात को देखते हुए कबीर साहब ने कहा किसान उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए पर इतना तो होना चाहिए कि कोई अतीत आ गया उसका सेवा भाव भी हो परिवार का सुचारू ढंग से थोड़ा भरण पोषण हो <coughs> जरूरत पड़ गई कोई बीमारी आ गई दवा के लिए पैसे हैं ये सब तमाम बातें हैं जिससे कि ये अपने जगह पर ज़रूरी है लेकिन इसको करते हुए भी जो अति ज़रूरी है उसे भी करना एक महत्वपूर्ण काम है और वही मानव जीवन का लक्ष्य भी है यह बात जान जान द्वारदार रो तो करे यही बात जान जान कर झूठ को सच मानकर और कष्ट मुसीबत झेलते हो द्वार द्वार रोते फिरते हो दुख सहते हो <coughs> तो कह रहे उत्तम पानी साबुन का प्रेम पानी धो लागा दाग धोए डर वाह वाह हो नहीं यह बात जाने जान द्वार द्वार रोरे उत्तम पानी साबुन का प्रेम पानी धोरे इसलिए संकेत करते हैं कि यह बात जान जान द्वार द्वार हो ये बात जानकर द्वार द्वार रोते फिरते हो असल को भूल गए हो नकल को ही सब कुछ मानते हो इसलिए द्वार द्वार रोते फिरते हो तो कह रहे उत्तम पानी साबुन का प्रेम पानी धो रहे उस उत्तम पानी साबुन का साबुन है सदगुरु से निकली वो दिव्य प्रकाश जो उत्तम साबुन है और उस प्रेम के पानी से उसे धो डालो लेकर वो साबुन लगाओ प्रेम का पानी लगाओ और धीरे धीरे धीरे यानी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास <coughs> समर्पण निष्ठा ये सब चीज़ है जिससे वो धीरे धीरे करके उस साबुन को लगाते रहेंगे तो धुल जाएगा क्योंकि कबीर साहब ने कहा है ना कि गुरु धोबी सिख कापड़ा साबुन सृजनहार सूरत शिला पर धोई प्रकट ज्योति तो गुरु एक तो धोबी के सदस्य होता ही है शिष्य कपड़े के सदस्य है यदि कपड़ा गुरु के प्रति समर्पित तो हो जाए तो गुरु उस पर साबुन लगा लगा के वो दिव्य प्रकाश की धीरे धीरे साफ करेंगे लेकिन यदि कपड़ा का हम जैवा रखना बोलते हैं तो कहाँ समझेंगे तो समर्पित भाव से यदि हम वहाँ पर हैं श्रद्धा विश्वास है पूर्ण निष्ठा है तो धीरे धीरे उस ध्यान के माध्यम से सूरती की शिला पर जब उस साबुन को हम लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी दिव्य प्रकाश बन जाएंगे आप भी वही साबुन हो जाए आप भी वही दिव्य ज्योति हो जाए अर्थात आप अपने विश्व आत्मा को अनुभव कर पाए तो इसलिए कहते लागा दाग धोए दारू वाह वाह हो जब इस जीवात्मा पर जो बंधन लगा है जो दाग लगी है पिछले जन्म के जो संस्कार हैं जो तीनों शरीरों के अंदर हम कैद हैं इसको जब धो डालेंगे तो वाह वाह हो क्या आनंद वाह वाह हो जाएगा अर्थात हम दिव्य प्रकाश का अनुभव प्राप्त करेंगे और दिव्य प्रकाश ही मिल जाएंगे तो वाह वाह होगा आनंद ही आनंद होगा तो दुल्हन बेकूफ काम गाफिल हो न सो तो दुल्हन जी कहते हैं यह तो बेवकूफ़ी का काम है कि हम इस झूठ को सत्य मानकर इस काम क्रोध लोग मोहम्मद मद के पीछे दौड़ते हैं काफ़ी लोग हैं सो गए क्योंकि अब दिखता क्या है काम दिखता है क्रोध दिखता है ये सब चीज़ें दिखती हैं और परमात्मा की तरफ से सो गए हैं अपने निज घर को भूल गए हैं जैसा कि कहा गया है अफसोस है उस पक्षी पर जो दाने की खोज में अपने घोंसले से निकलकर फिर घोंसले का मार्ग ही भूल जाए वही चीज़ है ये ऐसा ही हो गया है हम यह जो पक्षी आत्मा है अपने घोंसले उस व परमात्मा से निकलकर इस संसार में कुछ दाने की खोज सैर सपाटे करने के लिए आई लेकिन अब इधर की ही होकर रह गई क्योंकि ये मीना बाजार जो क्रोध लोगों की लगी हुई है उसी के चक्कर में भूल गई और अपने घर अपने घोंसले उस सचखंड का मार्ग ही भूल इसी इसीलिए जाग जाग जग जाओ जग जाओ जग जाओ यही दागना है